मित्रो परम सुखम कथम तदुजानी भाति विभाति न त्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक नीमा विद्युतो भान्ति कुतो यमदीन तनो मनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदम् विभाति जब तक आत्मविज्ञानम अनिर्देश्यम निर्देश निर्देष्टुम असत्यम परमं प्रकृष्टम प्राकृत पुरुष दान मनसयो अगोचरमपी सत निवृत्त निवृत्त जे ब्राह्मण ते तब एक प्रत्यक्षमेव इति जिसके संबंध में ये वर्णन किया कि जिस नित्य की सत्ता से ही अनित्य वस्तुओं का भान होता है जिस एक अखंड चैतन्य से ही अनेक आभासात्मक चैतन्य भाषते हैं जो बहुत न प्रतीयमान लहूयमान पदार्थों में भी एक ही है और असल में जो प्रतिबिंबित हो करके ही अंतकरण वृत्ति में सबके मनोरथों को पूर्ण करता है जो धीर पुरुष उसको अपने हृदय में आत्मा के रूप से देखते हैं उन्हीं को शाश्वत शांति होती है दूसरे को नहीं ऐसी जो वस्तु है क्या एक की मान्यता है इस ढंग से उपनिषद में जिसका वर्णन है उसी को महात्मा लोग एक अपरोक्षम उसी को साक्षात अपरोक्ष अपना स्वरूप मानते हैं तो श्री शंकराचार्य भगवान ने इस प्रसंग में ये बताया कि तो जिनके मन में विषय वासना प्रबल होती है तो विषय वासना का प्रबल प्रबल होने का मतलब ये नहीं है कि भोग चाहते हैं या धन चाहते हैं स्थूल वस्तु को ही पकड़ करके बुद्धि बैठ गई है का अभिप्राय ये है कि जो ये चाहता है कि हमारा देह ऐसा रहे वैसा रहे देह में ही मन लग गया हमारे पास धन इतना रहे उतना रहे इसी में मन लग गया तो हमारे बेटा बेटी ऐसे रहे वैसे रहे इसी में मन लग गया राजनीति में ये हो ये नहीं हो इसमें मन लग गया समाज ऐसे रहे ऐसे न रहे इसमें मन लग गया ये आत्म जिज्ञासा की दृष्टि से ये सब बहिर्मुखता है अब समय समय तो ऐसा आ रहा है कि ये बात अगर कहें तो लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे कहते हैं एक बार तुम अपरिच्छिन्न का बोध प्राप्त कर लो फिर तुम अनाथालय बनाओ अस्पताल बनाओ स्कूल बनाओ है ना समाज सेवा करो है ना हरिजन उद्धार करो है ना शुद्धि करो जो तुम्हारी मौज हो सो करो तब तुमको शुद्ध ज्ञान तो होगा तुम्हारी बुद्धि बताएगी तो सही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन जब तक शुद्ध बुद्धि नहीं प्राप्त हुई तब तक संसार की किसी छोटी मोटी धारणा को पकड़ लेना ये मूर्खता है बोले गुड़ी जिसको गुरुवार और शनिवार गुरुवार शुभ दिन है और शनिवार है ना सात दिन है अशुभ दिन है अनंत काल के चक्र में और समष्टि काल में है? और ये रात दिन के प्रतीयमान चक्र में व्यवहार के लिए है ना एक सूर्योदय और सूर्यास्त पर्यंत काल का नाम गुरुवार कल्पित है और एक सूर्योदय से सूर्यास्त का नाम शनिवार कल्पित है ये दोनों नाम जैसे है ना जैसे अंग्रेजी में कुछ दूसरे ही बोल देते हैं है? क्या बोलते हैं कुछ होता अच्छा और अरे राम और कोई संदेह मंडे डरदे बटरदे बोलते रहते हैं तो है ना काल की दृष्टि से जैसे आप तारीख को एक दो तीन करके समझते हो ना वैसे तो सप्ताह को भी आप प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ करके साथ समझ सकते हो उसमें गुरुवार और शनिवार कहा है तो, तो एक समय का समय में एक सूर्य और पृथ्वी की है ना के सामुख्य और वैमुख्य के विभाजक रेखा से सूर्य और पृथ्वी के सामुख्य और वैमुख्य पृथ्वी सूर्य के सामने हुई पीछे हुई इसके भेद से रात और दिन का विभाजन होता है और उसमें एक का नाम सोमवार और दूसरे का नाम मंगलवार ये कल्पित हुआ काल में पुण्यापुण्य नहीं है बिल्कुल शास्त्रिक तरीके से कल्पित है मानो शास्त्रीय कल्पना है जो काल तत्व में कोई सोमवार और मंगलवार का विभाजक कुछ भी नहीं है हम ज्यादा अग्रगामी हैं है ना हम ज्यादा थार में हो हमारे तेरह तेरह तारीख हमारे कभी खराब नहीं हुआ करते है ना लेकिन जैसे उनकी तेरह खराब होती है वैसे हम भी कोई खराब मान लें तो मान्यता दोनों बराबर की हो ये बात बिल्कुल तो जैसे दिन है ना अब जैसे समझो ये एक स्थान है किम क्रमवंती कीकटेश गावा मगध देश है कीकट देश है स्थान तो खराब होता है नीचे की ओर नरक है और ऊपर की ओर स्वर्ग है देश में कहीं नरक और स्वर्ग का और कहीं बिहार और बनारस का कोई भेद है, है? पर वो स्थान की दृष्टि से कल्पित है इसी प्रकार वस्तु में और क्रिया में और व्यक्ति में जो पवित्र पवित्र का भेद होता है वो केवल संवैधानिक होता है वास्तविक नहीं होता तात्विक नहीं होता वो भेद तत्व में से नहीं निकलता है ना विधान में से निकलता है विधान से भावना बनती है ये अच्छा है ये बुरा है ये सब में जैसे काल में भेद कल्पित है और जैसे इस मकान में ऊपर और नीचे बड़ी बिल्कुल बात सही है हम लोग धरती पर बैठे हैं फर्श पर बैठे हैं और छत हमारे से ऊपर है अरे ये तो मकान की अपेक्षा से कल्पित है भाई नारायण आकाश में दिशा में ऊपर और नीचे कहाँ होता है उसके तो वो छोड़े ही नहीं है तो ये जो हम वस्तु में अच्छाई और बुराई वस्तु के गुण से कल्पित नहीं करते वैधानिक दृष्टि से कल्पित करते हैं स्थिति में ये समाधि और विक्षेप की स्थिति है ना और क्या नाम है अब नाम तो क्या लें आपको ये संवैधानिक दृष्टि से ही सारा विभाजन है कहीं तत्व तो अपने में विभाजक रेखा नहीं खींचता है इस बात को आप जान लें तत्व तो सत हो तो ही विभाजक रेखा नहीं है और असत हो कभी विभाजक रेखा नहीं है है ना शून्य हो तभी विभाजक रेखा नहीं है और द्रव्य हो कभी विभाजक रेखा नहीं है और चित्त हो तभी विभाजक रेखा नहीं है और अचित हो तभी विभाजक रेखा नहीं है और आनंद हो तभी विभाजक रेखा नहीं है और दुख हो तभी विभाजक रेखा नहीं है आत्मा हो तभी विभाजक रेखा नहीं है और जब दुष्ट हो तभी भी विभाजक रेखा नहीं है वस्तु में कोई अलग अलग करने वाली लकीर खींची हुई नहीं है वस्तु अपने में अलगाव नहीं रखती है जो हरियाली है वो रात है जो रात है वो हरियाली है क्यों अंगूर की मिठास और मिर्च की करवाहट दोनों रात है कि नहीं है तो वस्तु अपने में विभाजक रेखा नहीं रखती तो ये जो चीज है नारायण विविधा की कामान का अभिप्राय क्या है कि जो जिस वस्तु में अच्छाई की कल्पना से आक्रांत होकर के फंस जाता है स्थान में बनारसई ही में मरेंगे है ना कि नहीं है बनारसई ही में मरेंगे और मरने के लिए भी एक जगह सुन लो हरे पीरे तथा पूर्जा मरणम जाहनवी करे नर्मदा तट पर तपस्या करे और गंगा तट पर मरे अभी उत्तरायण में मरेंगे दक्षिणायण में नहीं है और मुंह में तुलसी सोना लेके मरेंगे खाली में नहीं कि ये तुलसी सोना में जो पवित्रता है, है ये गंगा नर्मदा में जो पवित्रता है है ना और जो उत्तरायण में पवित्रता है वो संवैधानिक है माने शास्त्रोक्त है माने वाचनिक है वो वास्तविक माने वस्तु में से वो पवित्रता पवित्रता का भेद नहीं निकला हुआ है तो ये जब हम किसी चीज को अच्छी मान के उसमें फंसते हैं और बुरी मान के उससे नफरत करने लगते हैं द्वेष करने लगते हैं तो वो वस्तु तो पक्षी अच्छी हो कि बुरी हो तो अपने घर रहेगी हमारे दिल को खराब कर लेंगे हम वस्तु हमारे दिल को खराब नहीं करती हम अपने दिल को खराब करते हैं इंग्लैंड में होते तो जिस बात को बुरा नहीं मानते हिंदुस्तान में होने से उसको बुरा मानते हैं और हिंदुस्तान में रह करके जिसको बुरा नहीं मानते हैं इंग्लैंड में जाने पर उसको बुरा मानने लगते हैं तो वस्तु ने कहा है भेद वो तो स्थान का भेद काल का भेद स्थान में भी भेद नहीं काल में भी भेद नहीं वस्तु में भी भेद नहीं शून्य में भी भेद नहीं सत्य में भी भेद नहीं चित्त में भी भेद नहीं और अचित में भी भेद नहीं आनंद में भी भेद नहीं और दुख में भी भेद नहीं भेद नाम की चीज कहीं तात्विक नहीं है सब की सब काल्पनिक है गोविंदाय नमो नम ये सुख दुख कैसे होता है जब हम किसी छोटी चीज पर अपनी नजर गड़ा देते हैं अपना एक डेरा बनावेंगे हो पहले इतना हमारा इतना हम इतना हम और इतना हमारा अब जन लिया महाराज हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा बन गई हिंदू मुसलमान पट्टे बन गए लड़ गो लड़ो अब हिंदू मुसलमान तो लड़ेंगे ही हिंदू सिख भी लड़ेंगे हैं? और फिर वैष्णव और सयू भी लड़ेंगे हैं? फिर सही में वीर सही और सही लड़ेंगे तो वो वो मारपीट होती है महाराज वीर सही और सही बनारस में दोनों रहते हैं सही भी और जंगम बाड़ी का जुलूस निकले तो विश्वनाथ जी वाले बैठ जाए <laughs> खरीदनी हो झगड़ी खरीदना हो है ना अपने चित्र में द्वेष ही बताना हो तब तो किसी छोटी बुरा मान के और छोटी मोटी चीज को अच्छा मान करके उसमें फंस जाओ सत्संग की रीति नहीं है तो कामना की सुख कहाँ होता है देखो जब हम छोटी चीज की कामना करेंगे तो छोटी चीज काल में मरेगी इसलिए दुख होगा देश में उसका वियोग होगा है? और उसकी जगह दूसरी आ जाएगी तब तो वो दुख रहेगी वस्तु एक से दूसरी हो जाएगी और एक वस्तु दूसरे स्थान पर चली जाएगी और काल में वो बुद्धि हो जाएगी है ना और काल में मर जाएगी तो जब छोटे काल को छोटे देश को छोटी वस्तु को पकड़ोगे तो बड़ा भारी दुख होगा इसी को ऐसा बोलते हैं वो तो हम शंकराचार्य का जो बात है ना उसको समझाने के लिए है ना इतनी भूमिका बांधी ऐसा माने बस हम तो ऐसे ही रहेंगे एक महात्मा थे तो पिछली बार राशन हुआ ना तो उन्होंने कहा कि जिस चीज पर राशन होगा वो चीज हम खाएंगे ही नहीं तो उस बार को तो चावल और गेहूं दो ही पर राशन था तो चल यही बात है और <laughs> जब दाल पर भी राशन लगा और बाजरे पर भी राशन लगा है और जौ करने लगा तब उनको अपना जो हक था ना वो छोड़ देना पड़ा गोविंद तो सुख प्राप्ति का एक उपकाम की पूर्ति जो है ना जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए ईर्षणा करते हैं ईर्षणा माने इच्छा कामना तो हम पहले उसको अच्छा समझते हैं उसको चाहते हैं उसके साथ फट जाते हैं उसके साथ मोहग्रस्त हो जाते हैं और फिर उसके छूटने की कल्पना से ही भयभीत हो जाते हैं यही तो दुख है ना तो अच्छे बुरे का जो भेद है वही वस्तु के स्वरूप के अज्ञान से है अन्य होगा तो भी उसके अज्ञान से है और स्व होगा तब तभी उसके अज्ञान से है और शून्य हो तो भी उसके अज्ञान से है वस्तु के स्वरूप का अज्ञान होने से ही छोटे और बड़े का अच्छे और बुरे का हित और अनहित का ये जो भेद आता है ये वस्तु के स्वरूप के अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है तो फंस गए इच्छा में क्या क्या बातना होती है वो तो आपने सुना ही होगा है एक विपरीषणा होती है एक उत्परीषणा होती है और एक लोकषणा होती है वो सुत वृत लोक ईखना तीनी ये ही कर मती इन्ह कृत न मलिनी जो हाँ, स्वामी जी ने समझाया तुलसीदास जी ने पुत्र दुख लोकैपुत्रैषणायाश्च दुःखैषणायाश्च लोकैषणायाश्च दुखाय अथ दुच्छा के अध्ययन करते बोले पहले क्या है पुत्र पुत्रेषणा माने काम वृत्ति प्रधान प्रवृत्ति उत्तरीक्षणा माने काम वृत्ति प्रधान प्रवृत्ति और वित्तीक्षणा माने लोभ वृत्ति प्रधान प्रवृत्ति और लोकषणा माने अभिमान वृत्ति प्रधान प्रवृत्ति दुनिया में हमारी खूब इज्जत हो हमको खूब चीजें मिले है ना हमारी वासना पूरी हो अब ये छोटी छोटी चीज के लिए तो फंसे हुए हो तो पर जो अपने मन को छोटी चीज में लगा देता है उसको बड़ी चीज बिल्कुल नहीं मिलती जो अपने को हीन दीन छोटा मान लेता है ना कल आपका वो बात उस बात पर आपका ध्यान गया कि नहीं कि हमने एक तो दिखाया अंगूठा और वो दुखी हो गया कि हमारा तो इंसल्ट हो गया तो हमारे अंगूठे का दोष नहीं है बोला उसके भीतर जो पाप वृत्ति है पाप का जो प्रारंभ जग गया उसका दोष है और हमने दिखाया अंगूठा और वो हंसने लगा ये क्या बेवकूफी करते हो है ना क्या अभी तुम्हारा बचपन नहीं गया हंसी हंसने लगा हो तब तो चलो उसका प्राप्त पूर्ण प्रारंभ दिक्कत गया ये निशानी है अगर दुनिया की कोई वस्तु देखकर किसी स्थान में किसी समय में किसी क्रिया को देख करके तुम्हारे भीतर दुख जगता है तो तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ पाप है निशानी है अगर दुनिया की कोई वस्तु देखकर किसी स्थान में किसी समय में किसी क्रिया को देख करके तुम्हारे भीतर दुख जगता है तो तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ पाप है वो दुख के रूप में जग गया दुखी होना पापी का लक्षण है और यदि तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट पड़ गई हंस गए तो एक आदमी ने एक तो गाली दी हो बड़ी सुबह तो दूसरा मुस्कुराने लगा तो तीसरे ने पूछा कि इसने गाली दी और तुम मुस्कुराते हो कहे भाई तुमको मालूम नहीं है हमारा इनका रिश्ता ही ऐसा है हम लोग काले बनो हुए है बोला हाँ। अब मजाक में बात मजाक में बात सुनी गई उड़ गई सब लोग हंसने लगे ताजा लग गया एक नाम जो ये सुख कहाँ होता है ये जो हम मानते हैं कि स्थान में सुख होता है ऐसे मकान में रहे तब तो सुख होगा या ऐसे तीर्थ में रहे तो दोनों हो है ना और ऐसा मालूम पड़ता है कि इस ऋतु में इस समय में हमको सुख होता है और दूसरे में नहीं और इस वस्तु से इस व्यक्ति से सुख होता है दूसरे से नहीं ऐसा मालूम कम तो समझना कि हमारा मन बहुत छोटी चीज में फंस गया तो ईर्षणा न करके अपने मन को ईर्षणा शून्य करो जाय गुजरा विराट राम जाए भी जो आया उसको पार कर गए और जो आएगा उसको पार कर जाएंगे देखो अगर जिंदगी में गिनने लगे कि कितने लोग हमारे साथ मिले और छूट गए तो आज उनकी गिनती नहीं कर सकते जैसे रेलगाड़ी पर या हवाई जहाज में चलते समय भूगोल पीछे पड़ता जाता है ना लेकिन खत्म कभी नहीं होता ऐसे ही अपने अनंत जीवन में ये दृश्यों का आना जाना कभी खत्म नहीं होता आते जाते रहते हैं लेकिन सब पीछे पड़ते जाते हैं ये कोई पास चलता नहीं है ये स्थिति है तो छोटी वस्तु को मत पकड़ो तो बोले तो बड़ी को पकड़े तो बोले नहीं बड़ी को भी मत पकड़ो जरा एक बार दे पकड़ मन में कोई पकड़ न हो कोई आग्रह न हो और ऐसे शांत बैठ जाओ उस समय जो तुम्हारी बुद्धि है हृदयाकाश है उसको देह के घेरे के भीतर मत देखो वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सबका अधिष्ठान है वो आज कल परसों सबका अधिष्ठान है वो यह वह मैं सबका अधिष्ठान है ऐसा जो हृदयाकाश है है ना जितना बड़ा बाहर हृदय आकाश है उतना ही बड़ा भीतर है उपनिषद में ऐसे लिखा है कामदोग्य उपनिषद में जहाँ बाहर विद्या का प्रसंग है ना वहाँ और वो तुम हो तुम हो माने चिदाकाश हो तो यंत को भी ग्रह नक्षत्र सारे ब्रह्मांड पर ब्रह्मांड सौर मंडल पर सौर मंडल है ना ऐसी ऐसी हजारों पृथ्वियां तुम्हारे अंदर चक्कर काटती रहती हैं तुम वो चिदाकाश हो जिसमें देश काल वस्तु चीजों बिना हुए सुरफुरा रहे हैं तुमको ये सुख अब सुख शब्द का अर्थ कर लो है ना सभी कभी की तो मनते अनिर्देशम परम सुखम सुख क्या है गोविंदाय नमो नम जो सबको खा जाए उसको बोलते हैं खौ खाने वाले का नाम है खौ आपको सुनाया था ना कि हमारे बाबा ने एक बार हमको बताया था पहले क क्यों पीछे ख क्यों क तो अल्प प्राण है और ख महाप्राण है क और ह दोनों के संयुक्त उच्चारण का नाम क्या है ना तो क माने कर्म करो और ख माने खाओ तो खादी थी इसी खा खम को किसको बोलते हैं तो जो खा जाए उसका नाम है खा तो दो तरह से खाने वाला दो तरह का है एक जैसे आकाश में आधी आवे तूफान आवे अंधेरा आवे धूल उड़े तो आकाश आकाश है कि नहीं और उसका नाम दुख हुआ और जब चांदनी छिटकी और शीतल वायु चली और मन प्रसन्न हो गया तो उसका नाम सुख हुआ ख माने आकाश आकाश सबको खा जाता है इसमें ये पृथ्वी को खा जाता है जल को खा जाता है अग्नि को खा जाता है वायु को खा जाता है सबके प्रलय में भी रहता है और है ना न जितने नित्य प्रलय में और नैमित्तिक प्रलय में आकाश रहता है वो और प्राकृतिक प्रलय में आकाश भी लीन हो जाता है लेकिन उसके सत्यत्व की भ्रांति दूर नहीं होते और आत्यंतिक प्रलय में आकाश के सत्यत्व की भ्रांति जो है वो दूर हो जाती है वो बाधित हो जाता है तो सत्यत्व की भ्रांति क्या सत्य रूपेण अन्यत्व की भ्रांति ये बहुत विलक्षण बात है हाँ। अन्यत्व की भ्रांत आकाश की प्रतीति नहीं करती है आतंकिक मुक्ति में भी हाँ, जो चिदाकाश है ना वो तो ऐसा ही है चिदाकाश का बात थोड़ी होता है तो ये जो ख है सुख ये कहता का परमम परमम का अर्थ है अधिष्ठान और ज्ञान कैसे तो परम का अर्थ जो सबसे परे हुए उसका नाम परम तो सबसे परे कौन है तो सबका अधिष्ठान और परा माँ कौन सी है माँ माने प्रमा स्वानुभूति स्वानुभूति ही जिसमें मान है उसको बोलते हैं परम स्वानुभूति कमानायो नमस्कांताय तेजसे दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्त स्वानुभूति आयो नम शांताय तेजसे दिक्काल वस्तु से अनवच्छिन्न अनंत चिन्हास्त्र अद्वितीय और अपनी अनुभूति ही जिसमें प्रमाण है ऐसी वस्तु जात शांत ज्योति इसी का नाम परम सुख है एक छोटा मैं है मैनेजर और एक बड़ा मैं है मालिक तो छोटे मैं को देखो उसमें जो ज्योति दे रहा है सत्ता दे रहा है प्रकाश दे रहा है आनंद दे रहा है और स्वयं छोटा नहीं है स्वयं तो देह है वो अनिर्देश्य है जत अनिर्देश्यम तत् जो अनिर्देश तत् है जिसके बारे में हम कोई निर्देश नहीं कर सकते इशारे नहीं कर सकते कि ये है ये है ऐसा है पंचदशी ने ये प्रश्न उठाया है कि तत्तम की वृक्ष वो तत्व कैसा है किद्रिक तदिति चेत वो तत्व कैसा है यदि ये प्रश्न करो तो, इसका उत्तर क्या है जब अनिद्रिक असादृश्य सादृक तत्व में है जो अनिद्रिक है और सादृक है असादृक है जब अना अनुद्रिक असादृत न ऐसा है न ऐसा है न ये है न मैं है और यह मैं जिसके पेट में कोई चित्र में मरगमन महर्षि का एक श्लोक है चित्रेत्र लोक्यंत विलोकिता एक तस्वीर है उसमें बड़ा सुंदर फूल खिला है और एक आदमी है बड़ी सुंदर आंखों वाला कवि कलाकार प्रीतिमान वो उस चित्र में बनाया हुआ है वो फूल को देख देख के खुश हो रहा है कविता की प्रेरणा ले रहा है गुलाब के फूल को देखा और कविता की प्रेरणा ले रहा है बोले कि वो जो तस्वीर में जो कपड़ा है वही देखने वाला वो आदमी भी है और वही वो देखे जाने वाला फूल भी है कपड़े के सिवाय न वहाँ आदमी है और न फूल है तो ये दृश्य जो है ये फूल है और ये अहम जो है ये तस्वीर का आदमी है तस्वीर का है? और कपड़ा जो है वो अपना वास्तविक आत्मा है वासना के रंग से अंतकरण के रंग से ये सारी सृष्टि अपने आप में दिख रही है अपने आप से जुड़ा कुछ नहीं है ये वासना का रंग है तो कथम तब विजानियाम वो अनिर्देश है परम सुख है कल सुख के बारे में आपको सुनाया था राजस तामस प्राप्त है ना और पूरी सुख ये जो अपना आता है छोटा नहीं छोटे और बड़े के भेद की जो कल्पना है उस कल्पना का प्रकाशक अधिष्ठान ऐसा जो अपना आपा है स्वयं प्रकाश प्रथम उपद विजानिया किम भाति विभाति वा वही स्वयं सर्वरूप से प्रकाशित हो रहा आत्मरूप से प्रकाशित हो रहा है वही सर्वरूप से प्रकाशित हो रहा है उसको भला हम कैसे देखें कैसे समझें करे स्वयं हो भाई किसी ने किसी को कहा कि तुम्हारा काम कौआ ले गया अब वो लेके लालटेन दौड़ा है ना लेके डंडा दौड़ा कौवे को मारेंगे अरे कहाँ दौड़ रहे हो भाई तो कौआ हमारा कान ले गया उसको मारने जा रहे हैं और भले मानुस तुम पहले ये तो देख लो कि तुम्हारा कान है कि नहीं तो हाँ ये तो देखा ही नहीं अब लालटेन धरती पर रख के है ना कान पर हाथ लगाया तो उसको मौजूद था तो बोले कि तभी डंडा काहे के लिए और ये लालटेन काहे के लिए क्यों तुम्हारा अपना आशा नरक में अट गया क्या किसी ने कहा कि तुम तो नरक में पड़े हो तो तुम क्या उतने ही हो नरक नहीं था जब भी तुमसे नहीं रहेगा जब भी तुम रहोगे और जहां नहीं है वहां भी तुम हो और नरक जो नहीं है तो भी तुम किसी ने कहा तुम स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग का जितना घेरा है उतने ही हो तुम स्वर्ग जितने काल रहता है उतने ही काल तुम्हारी अस्थिता है जो स्वर्ग है कोई हो तुम अरे बाबा न तुम स्वर्ग में गए न नरक में गए न पुनर्जन्म में गए न जाओगे तुम्हारा अपना आपा ऐसा है कि जो कभी मिटता नहीं कहीं हटता नहीं किसी से सटता नहीं क्योंकि कोई है नहीं मतलब कभी मिटता नहीं कहीं हट से जाता नहीं और किसी से सटता नहीं यहाँ शक्ति वापसी भी बेकार है बोला हाँ। तो किम भाति विभाति हाँ, हाँ, सर्वरूपेण सर्वरूपेण भाव आपने वेदांत के ग्रंथ सुने हैं पढ़े हैं वेदांत का उपदेश सुना है ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ और ये संपूर्ण विश्व ब्रह्म है आपने सुना कहीं अहम ब्रह्मास्मि स्वर्गम खंडम ब्रह्म ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम ये ब्रह्म ही है शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जिस दर्शन के स्वाध्याय से रागत द्वेश की उत्पत्ति हो वो दर्शन नहीं है कुदर्शन है आप ये वचन ये वचन भाव सुने ढूंढ लेना इस तो श्लोक में नहीं है दूसरी जगह जिस दर्शन से चित्त में रागत द्वेश की उत्पत्ति हो गए वो जीवन मुक्ति के सुख से तो वंचित करने वाला है ही है अच्छा राज किसी से होना माने हमारे अंदर सुख नहीं है इसमें सुख है और द्वेष किसी से होना माने ये हमारे सुख को नष्ट कर सकता है देखो द्वेष में क्या हीनता है द्वेष में ये हीनता है कि जब तुम ये मानते हो कि ये चीज हमारे सुख को नष्ट कर सकती है तब उससे द्वेष करते हो मान तुम दूसरी चीज में इतना सामर्थ्य मानते हो कि वो तुम्हारे सुख को मिटा सके तुमने शैतान को बना दिया है? अच्छा अब जब राज किया तब तुम्हारे अंदर क्या हीनता है अपने को कमजोर माना तुमने कब जब ये माना कि तुम्हारे सुख को कोई स्थान में जाने से हानि होगी किसी काल में तुम्हारा सुख मिट जाएगा कोई वस्तु तुम्हारे सुख को मिटा देगी तुम्हारे सुख को ब्रह्मा विष्णु महेश मिटा देंगे या तुम्हारे सुख को ईश्वर मिटा देगा अगर ऐसा तुम मानते हो तो तुम्हारे अंदर हीनता का भाव हो तुम स्वयं सुख हो और तुमको कोई मिटा नहीं सकता तो जब हम किसी से द्वेष करने जाते हैं तो ये समझ के तीर हमारे सुख को मिटा देगा अच्छा और जब हम किसी से राग करने जाते हैं तो क्या समझ के जाते हैं बोले जो मजा इसमें है वो मुझ में नहीं है अपने को दुखी मान के सब दूसरे के पास जाते हैं कि जरा मजा दो मजा है ये मजा के भिखारी ये देखो आजकल तो भिखारियों को रोक लगने वाली है है? लेकिन जो चाट में से मजा मांगते हैं जो मर्द औरत में से मजा मांगता है जो औरत मर्द में से मजा मांगती है, है? और जो कुर्सी में से मजा मांगते हैं गद्दी में मजा हो रही है मजा तुम हो ये तो सब भिखारी हैं इनके सब पर रोक नहीं करते सब पर रोक लगानी चाहिए मजा मांगने जा रहे हैं तो नारायण राग द्वेष जो दर्शन राग द्वेष देता हो जो राग द्वेष प्रांतीयता क्षेत्रीयता भाषाईपना मजहबीपना जातीयता है ना प्रांतीयता राष्ट्रीयता ग्रहीयता भौगोलिक दृष्टि से है ना भौगोलिक दृष्टि से ये राष्ट्रीयता प्रांतीयता ये सब होती हो ये भौगोलिक दृष्टि की संकीर्णता है भौगोलिक दृष्टि में संकीर्णता आने से ही प्रांतीयता और राष्ट्रीयता इनका जन्म होता है जातीयता सांप्रदायिकता तना है ना हम जो धर्म करते कर्म करते हैं तो ये धर्म कर्म करता है कि नहीं करता है है ना ये क्या है छोटी छोटी चीजों पर अपनी अखंडता अपनी अखंडता को छोड़ करके नन्नी मुन्नी बातों में आसक्त हो जाना तो नारायण जो भेद दर्शन है शंकराचार्य भगवान का ये कहना है कि भेद दर्शन जितना है वो राजद द्वेष का दान करने वाला दर्शन है भेदक दर्शन है भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न करने वाला दर्शन है फूट डालने वाला दर्शन है जो कूट डालने वाला दर्शन है वो राजवेश देने वाला राजवेश देने वाला दर्शन है ऐसे दर्शन को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए और अभेद दर्शन जो है, है? हमारी तुम्हारी तो बहुत ही आ रही है बहुत सोचते हैं तो क्यों तो देखो हम तुम दोनों एक ही तरह के हैं तो भला एक तरह के कहते हैं बोला तो दोनों की आंख दोनों की आंख सामने की ओर दो दो हैं हमारे भी दो तुम्हारे भी दो देखो भाई भाई हो गए ना है हमारी भी नाक आगे और तुम्हारी भी नाक आगे हमारा भी मुंह जो है खाने के लिए तुम्हारा भी मुंह खाने के लिए हमारे भी तो दोनों का और काम है हम दोनों सांस लेते हैं दोनों के दिल है दोनों के दिमाग है हम लोग जितने मिलते हैं अलग अलग कठपुतली की तरह दिख तो रहे हैं लेकिन है तो बिल्कुल एक ही है ना एक ही साचा एक ही ढांचा एक ही चेतना एक ही जड़ता एक ही सत्ता एक ही असत्ता भेद दर्शन जो है ये द्वेश का बाप है राजद्वेश का कारण है इसलिए भेद दर्शन को कभी प्रश्रय नहीं देना तो निवृत्त ऐसा जिसको छोटी छोटी बात में जिसका मन रम गया है उसको ये अभेद दर्शन ये अखंड दर्शन नहीं होता तो दुख ही क्षणा जो ब्राह्मणा के सदेशा प्रत्यक्ष मनयंत जिनके मन में छोटी छोटी बातों का फसाव नहीं है वो अपने आत्मा को ऐसा अखंड अभिन्न अच्छिन्न अभिन्न हाँ, देखते हैं मेरे तो आप रहे क्या बोले भाई ब्रह्म ज्ञानियों का तो अनुभव ऐसा अब हम उसको कैसे जाने कि आह हम यही हैं कैसे जाने कि ये दिव्य थे प्रकाशात्मकम तक वो तो स्वयं प्रकाश है तो, ये अज्ञान की जो मैल है ना इसको वृत्यारूढ़ ज्ञान से धो दो अपनी वृत्ति में इस पूर्णता को इस अखंडता को ला करके और ये जो परिच्छिन्नता की भ्रांति है मैन है इसको भोगो देखो तुम ही तुम हो स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान बोले कि आओ सूर्य की रोशनी में उसको देखें चंद्रमा की रोशनी में देखें अग्नि की रोशनी में देखें तीन मुख्य हैं वो और तारा और गुज्जो ये अवान्तर ज्योति हैं तीन ज्योति मुख्य हैं न तत्र सूर्यो भाती न चंद्र तारकम नीमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति आपको हमारे एक ट्रस्ट बना तो उसमें ये हुआ कि ये यदि मजहबी होगा तो सरकार टैक्स माफ नहीं करेगी वृंदावन की बात है तो ये हुआ कि अभी नहीं बनेगा तो अपने धर्म कर्म की बात कैसे बनेगी तो ये हुआ कि व्यवस्थापक जो होंगे वो तो इसके अमुक अमुक होंगे परंतु इससे जो फायदा होगा उसको सब खा सकेंगे है ना हमारे यहाँ जो सभा होगी उसमें सब शामिल होंगे इसमें जो क्षेत्र चलेगा उसमें सब भिक्षा लेंगे इसमें जो अस्पताल रहेगा उसमें सबकी दवाई होगी इसमें जो स्कूल होगा उसमें सब पढ़ेंगे फायदा तो सब ये बात है ना ये जो वेदांत विद्या है वेदांत विद्या बड़ी विलक्षण है शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जो वर्णाश्रम से बहिष्कृत हैं बहिर्भूत हैं किसी वर्ण में नहीं है किसी आश्रम में नहीं है यदि वे इस वेदांत विद्या से लाभ उठा सकें उठाना चाहे तो उठा सकेंगे कि नहीं बोले जरूर उठा सकेंगे उनको तो वेदांत कर्तन में भाष्य में मूल में ये बात है मूल भाष्य में बोले कि इस समय तो उन्होंने अंतकरण शुद्धि के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया बोले उन्होंने पूर्व जन्म में किया होगा जिज्ञासा का उदय हो गया वो तो यज्ञ का दान समेतम ब्राह्मणा भूमि शांति यज्ञ न दाने न तपसा अना सकेगा वो परिच्छिन्न के जिज्ञासु नहीं है परिच्छिन्न के प्रेक्षु नहीं है परिच्छिन्न को पाना नहीं चाहते परिच्छिन्न को जानना नहीं चाहते ये जो परिच्छिन्न के प्रति वैराग्य होकर अपरिच्छिन्न के प्रति उनके हृदय में जिज्ञासा का उदय हुआ है ये कोटि कोटि वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करने का फल है ये अपरिच्छिन्न अपरिच्छिन्न के प्रति उनके मन में प्रेक्षा और जिज्ञासा का उदय हुआ नहीं तो किसी न किसी घेरे में हिंदू क्या होता है मुसलमान क्या होता है है ना नारायण इसी में फंसे रह जाओगे तो बोले स्त्री हो तो बोले बिल्कुल साफ साफ लिखा उन्होंने आदया शब्द का प्रयोग ही किया है आदया एक लोके महाज्ञाना सच लोको न गाहते इस गौड़ पादीय कारिका की व्याख्या में उन्होंने कहा स्त्री हो रहे शुद्ध हो कोई भी हो गए ज्ञान के अधिकारी सब है शंकराचार्य भगवान महाराज उनके अंदर संकीर्णता का बिल्कुल अभाव संकीर्ण दृष्टि ही नहीं है बोले आओ सूर्य की रोशनी में ब्रह्म को देखें तो बोले कि वही सूरज की रोशनी में तो आंख देख सकती है और आपको पूर्णता को नहीं देखती है परिच्छिन्नता को देखती है ये तो आप जानते हो आप से केवल रूप ही दिख सकता है ना सो भी दूर का नहीं देख सकता और सो भी सूक्ष्म हो गए तो नहीं देख सकता आंख में तो सिर्फ रूप दिखता है न आंख से शब्द सुनाई पड़े न गंध मालूम पड़े न स्वाद मालूम पड़े न स्पर्श मालूम पड़े है ना न ध्यानस्थ वस्तु मालूम पड़े तो आंख से ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा सूर्य की रोशनी में ब्रह्म नहीं दिखेगा माने आंख से ब्रह्म नहीं दिखेगा तो आओ और भीतर चले और मन से ब्रह्म को देखें अरे मन में तो ध्यान करने के लिए संस्कार डालना पड़ता है आप जानते हैं हम लोगों ने तो मछली के रूप में भी ईश्वर को देखा है हमारे तो कोई आश्चर्य ही नहीं है ईश्वर मछली कैसे हो गया क्या हमारे मन में पुराण ने ये बात डाल दी कि ईश्वर मछली रूप होता है और हमने मछली का ध्यान किया तो मछली के रूप में ईश्वर प्रकट हो गया है हमने सूअर के रूप में देखा कछुआ के रूप में देखा सिंह के रूप में देखा घोड़े के रूप में देखा है ना ये नहीं समझना कि शास्त्र में ये लिखा है कि खाली सन्यासी के रूप में ईश्वर को देखना है और गृहस्थ के रूप में नहीं बोला ऐसे नहीं है वेदांत विद्या में ये बात नहीं है केवल ब्राह्मण के रूप में महात्मा को देखना ब्रह्म को देखना हाँ, और क्षत्रिय वैश्य के रूप में महात्मा को नहीं देख ब्रह्म को नहीं देखना ये बात नहीं है वेदांत विद्या नहीं है हाँ। प्रत्येक पत्नी अपने पति में जब ब्रह्म का दर्शन कर सकती है तो इसका मतलब हुआ ना कि सब पुरुष ब्रह्म रूप है जब इजाजत हो गई कि प्रत्येक पत्नी अपने पति में ब्रह्म देखे और जब प्रत्येक पुत्र अपनी माता में जगत जननी जगदम्बा का ब्रह्म माँ का दर्शन कर सकता है तो इसका मतलब हुआ ना कि सब माँ सब माँ ब्रह्म है ये तो बिल्कुल स्पष्टम है हमारे पीपल में ब्रह्म है गाय में ब्रह्म है मछली में ब्रह्म है कछुआ में ब्रह्म है सुअर में ब्रह्म है शेर में ब्रह्म है और हमारा घोड़े में ब्रह्म है हमारे आकृति का महत्व नहीं है अगर हम ईश्वर की एक आकृति मान लेते हैं जैसा कट्टर लोगों ने मान लिया ना एक ने कहा कि नारायण के सिवा और सब आकृति झूठी एक ने कहा शिव के सिवा और सब आकृति झूठी है ना नहीं आकृति चाहे शिव की हो चाहे नारायण की चाहे देवी की हो चाहे गणेश की जैसे गणेश ने पशु की आकृति ले ली ना हाथी की और स्त्री ने स्त्रीलिंग मात्र ले लिया और सूर्य ने ज्योतिर्मय ले लिया है? और शिव से गोरा ले लिया और नारायण से काला ले लिया है? और ये आकृति और प्रकृति प्रकृति सबकी अलग आकृति सबकी अलग नाम सबका अलग रूप सबका अलग लिंग सबका अलग परंतु एक ही ब्रह्म एक ही ब्रह्म में ये पांचों रेखाएं पांचों तस्वीर खींची हुई है यदि पांच न बनाते तो तुम एक आकृति को पकड़ करके बैठ जाते एक आकृति को पकड़ करके कोई न बैठे इसलिए पांच को बनाना जरूरी हो तो बोले साहब मन से ध्यान करें बोलिए तो किसी ने कहा निराकार किसी ने कहा साकार जो जिसके संस्कार के संपर्क में आ गया हो है ना वो वैसा मान के बैठ गया तो मन से मन से कैसे कल्पना करोगे इंद्रियों से देखी हुई चीज के ही विशाल या लघुतम रूप की कल्पना मन में आती है संस्कार शून्य तो मन नहीं होता तो बोले मनोज्योति काम नहीं करती है तो आजकल बोले चले भाई विद्युत थी बिजली की रोशनी में देखें सूर्य और चंद्रमा की रोशनी नहीं है तो बिजली की रोशनी में देखें बोले वो भी नहीं बनेगा बिजली की रोशनी में तो मशीन से देखोगे और क्या करोगे हैं चंद्रमा की रोशनी में मन से देखोगे कारा की रोशनी में क्या करोगे और इस चंद्रमा सूर्य को छोड़कर दूसरे लोक में चले जाओगे है ना ये अमुक तारा है ये अमुक तारा है ये अमुक तारा है तो वहाँ यही इंद्रियां तो काम करेंगी बोले अच्छा भाई कुछ नहीं आओ शब्द ज्योति से देखा अग्नि से देखना माने हाँ, सूर्य की रोशनी में प्रकाशित होना माने आख से देखना और मन की रोशनी में देखना माने हाँ, ध्यान से देखना ऐन्द्रियक संस्कार जो है ऐन्द्रियक विषयानुभूति का जो संस्कार है वैसा देखना तो देखो जिन लोगों को पहले हमने देखा है पहले चित्र तो पहले लोगों का ये कल्पना नहीं था कल्पना नहीं थी लोगों के मन में कि जो दुबला होता है वही सुंदर होता है तो हमने विष्णु भगवान की ऐसी ऐसी मूर्ति देखी है महाराज तो निकली हुई है, है? जरा चालीस पचास वर्ष पहले का काल करो हाँ, खूब निकली है खूब मोटा हाथ है मोटा पा है है ना और से पहले गोविंद भवन से जो नारायण का चित्र निकला था बड़ा मोटा था वो हाँ, वो तो हीरा लाल गोयनका की तरह ही था तो <coughs> जैसे हुए वैसे ही था तो मिलता जुलता <laughs> पहला चित्र आप लोग देखना तो पता चल जाएगा अरे गीता प्रेस से एक निकला अनंत प्रेम आ रहा तो क्या था कि गीता प्रेस वालों को तो मालूम नहीं था भाई वो तो भले लोग हैं है ना मालूम नहीं था एक बनारस में था कलाकार तो एक नाटक में अभिनय करने वाला लड़का था वो जरा सावड़ा था और जरा लटक मटक से चलता था आंखें भी जरा तीखी थी देखने में सुंदर था तो उसका चित्र लेकर के उसको रंग दिया है ना और बांसुरी पकड़ा पकड़ा दी और मुकुट बना दिया और दे दिया गीता प्रेस वालों को और छाप दिया उन्होंने अनंत प्रेम आ रहा तो <laughs> पीछे किसी ने कहा करिए तो एक लड़के का है ना तो उन लोगों ने फिर उस चित्र को छापना ही बंद कर दिया मालूम पड़ा तो बंद कर दिया तो <clears throat> ये जो है ना गुरु गोविंदाय नमो नमहा तो ये इंद्रिय संस्कार मनोवृत्ति अब तो कि आग से अग्नि से नहीं दिखता तो ये मतलब नहीं कि आग जला के या मकान हाथ में लेके प्राग ज्योति जो है देखो तो एक आदमी सूर्य की रोशनी में आया तो आग से देख लिया कौन है बोले मुआ में एक आदमी है ना चंद्रमा की रोशनी में आया हाँ। बोले कौन है जरा गौर से देखा गौर से देखना पड़ेगा सूरज की रोशनी में बिना गौर की आंख की आंख बता देगी कि कौन है और चंद्रमा की रोशनी में कोई आवे तो थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि कौन है लेकिन जहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों न हो मन वहां लगता है वहाँ कौन है उधर से जवाब आया मैं मोहन हूँ तो क्या हुआ हाँ, अंधकार घोर अंधकार मैंने चंद्रमा है न सूर्य है तो पांच ज्योति जो है वहाँ काम कर गए जहाँ चंद्रमा सूर्य नहीं होते वहाँ अग्नि ज्योति काम करते इसी को अग्नि बोलते हैं चंद्रमा माने चंद्रमा के द्वारा अधिष्ठित मन सूर्य द्वारा सूर्य माने सूर्य के द्वारा अधिष्ठित नेत्र और अग्नि द्वारा अग्नि माने अग्नि के द्वारा अधिष्ठित वाणी माने जवान से भी नहीं बोलता शब्दम अस्पर्शम अरूपम न पत्रवाद गच्छति न मनो और ये जो विद्युत है ये अग्नि और सूरज के अवान्तर भेद हैं और चंद्र तारे जो हैं वो लोक लोकांतर में रहने वाली ज्योतियों की उपलक्षण है माने जो छिन्न भिन्न परस्पर विलक्षण जो अनेक प्रकार की ज्योतियां हैं उनसे परमात्मा प्रकाशित नहीं होता है ना तो नारायण परमात्मा कैसे प्रकाशित होता है बोले परमात्मा को देखने के लिए एक शाकुंतल में एक प्रसंग आया है न साधनापेक्षी निसर्ग सुंदरम जो वस्तु स्वभाव से सुंदर होती है उसको प्रसाधन की उसको संवरने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको मेकअप करना नहीं पड़ता जो सहज सुंदर है उसको मेकअप करना नहीं पड़ता है ना किमी वही मधुराराम मंडनम नाकृति नाम कालिदास का शब्द है किमी वही मधुराराम मंडनम नाकृति नाम जो मधुर आकृति है सुंदर है उसके लिए क्या चीज आभूषण नहीं है वो तो दे लगा लो महाराज है ना घास पात अपने सिर पर रख ले तो वही आभूषण हो जाए तो परम जो स्वयं प्रकाश है उसको देखने के लिए कोई रोशनी डालनी पड़े उस पर सो नहीं है खूब चमकता है और उसकी चमक से एक बुद्धि नहीं हो उसी एक की चमक से सबकी बुद्धि सबका मन सबकी इंद्रिय सब कर्म और सब विषय उसी एक की चमक से चमक रहे हैं और असल में चमक ही चमक है चीज नहीं है हाँ, वो चीज बनी नहीं है अच्छा तो हमारे तो डी रोड में विश्व